और आप पहाड़ों को देखकर अपनी जगह जमे हुए ख्याल करते हैं लेकिन वो भी बादल की तरह उड़ते फिरेंगे ये है सनत अल्लाह की जिसने हर चीज को मजबूत बनाया है जो कुछ तुम करते हो उससे वो बाखबर है